क्या आपने उनको नहीं देखा जो मौत के डर से हजारों की तादाद में अपने घरों से निकले तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा मर जाओ फिर उसने उन्हें जिंदा किया बिलाशुबा अल्लाह ताला यकीनन लोगों पर बड़े फजल वाला है मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते